एतत् कौन सूत्र है जो आशंका में लिंग लकार करता है आशंका संवाद योच्चा ये क्या करता है आशंका संवाद अर्थ में लिंग लकार होता है इसलिए स्याद माने नन के स्थान में स्याद इतत माने आशंका संदेह तो यहाँ पर जो स्याद शब्द किस अर्थ में है आशंकायाम स्याद माने माणम स्याद एतत माने जो आगे हम कहने वाले हैं उस अर्थ में प्रयोग हुआ स्याद एतत यथा गगन कुसुम ईश बंध्या सुतो याति खा पुष्कृत से खरा कूर्मक क्षीर चई स्नाता सस सिंह धनुर्धरा ये सब क्या है कोई अर्थ नहीं संसार में एस एस बंध्या सुतो याति बंध्या का पुत्र होता नहीं है सब बौद्ध कुछ नहीं है एस बंध्या सुतो याति कैसा है वो खा खा पुष्पकृत शेखर रखा आकाश के पुष्प से मुकुट मणि बना के चल रहा है पहन लिया है और इसको बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं स्वामी जी जो वहाँ पर हम्म। ऋषि के समय ना हंसानंद स्वामी जी तो उस समय हम सुनते थे अभी जब ये श्लोक आते तो बड़ा ढंग से मतलब इतना रोचक सवाल इस विषय में एक घंटा डेढ़ घंटा व्याख्यान देंगे हाँ बहुत बड़े ढंग से बहुत अच्छा मतलब बिल्कुल बढ़िया समझा के जैसे समझाना चाहिए मतलब हाँ इसको तो यह एस खत वो और बड़ा ढंग उनका इतना बोलते हो तो वेदांत सरल बोलते एकदम कहेंगे जी साहब ये काल्पनिक है इसे ये संसार काल्पनिक है वेदांत में घटाना है ना उसको बड़ा बहुत सुंदर ढंग से बहुत बताएंगे उसका हाथ वो वृद्ध लगते हैं बताने का ढंग बहुत अच्छा उनका तो बड़ा अच्छा लगे यही हमको केवल उनका याद है क्योंकि जैसे कैसे बता दें जब बोलते हैं तो उनका आकृति भी हमको आ जाती है ये कैसे भूलते रहे सोनी गंगा जी किनारे तो बड़े मस्त होकर बताते रहे अच्छा वही यहाँ आ गए इसलिए बता दें गगन कुस्म लिखा ना इसमें इसलिए गगन का कुस्म और कूर्मक छीर से स्नाता कूर्मा ने कछुआ उसका दूध नहीं होता है तो उसके दूध में उसने स्नान कर लिया है और क्या किया सस श्रृंग ससीमा ने खरगोश उसका सिंह से धनुष बनाया है ये कुछ है ही नहीं है ये सब क्या है काल्पनिक है उसी बात को यहाँ लिखने जा रहे हैं पूर्व पक्ष बना रहा क्या उसी प्रकार तुम्हारा ये सब है क्या जो नहीं दिख रही चीज इसी प्रकार है क्या सब यथा गगन कुसुम हुआ ना कूर्म रोम कूर्म रोम भी नहीं होता होता होता ना पत्थर जैसा हाँ। इसलिए कूर्म रोम शब्द का प्रयोग कर शशि विषाण शशिका सिंह होता है हाँ। शश विषाण मान शश का सिंह खरगोश का सिंह होता है नहीं होता है कूर्म का एक नई चीज में रोम भी नहीं होता है वो क्षीर दूध भी नहीं होता उसका और रोम भी नहीं होता इसलिए कहने जा रहे हैं गगन कुसुम कूर्म रोम सस विषाण आदि आदि से लेकर बंध्या शुद्ध कर लीजिए विषाण आदिशु जितने ये पदार्थ हैं प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम प्रत्यक्ष नहीं है प्रवर्तमान नहीं हो रहा तद अभाव अभावम एवं जैसे प्रत्यक्ष अप्रवर्तमान होकर के इनकी अभाव की सिद्धि करता है प्रत्यक्ष नहीं जा पा रहा है एतावता ये नहीं है तो इनके अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान करा रहा है तद अभाव तद मन तेसाम गगन कुसुम कूर्म रोम शस विषाणादी नाम अभाव अवगमयती प्रत्यक्ष प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाण इनके अभाव का निश्चय करता है तो किसी ने कहा उसी प्रकार प्रधान आदि तो स्वपिशाद क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रवर्तमान नहीं है आप प्रवर्तमान है इसका मतलब कह देना कोई प्रधान नाम की वस्तु नहीं है और महद नाम के कोई वस्तु नहीं है अहंकार नाम का कोई वस्तु नहीं है पंच तन्मात्राएं भी नहीं वही कह रहा यदि प्रधान आदिस्वपी सात अन्न कर दिए तत्कथम तेषा फिर कैसे आपने सामान्य तो दृष्टादिभ्या सिद्धि ही कैसे आपने प्रधान की पुरुष की महद की तन्मात्राओं की सामान्यतो दृष्ट की द्वारा शीर्ष वध की द्वारा आदि से जो वेद उसके द्वारा कैसे आप सिद्ध कर दिए या इसका सिद्ध हो नहीं जैसे हमारा प्रत्यक्ष अप्रवर्तमान हो गया गगन कुसुमादि में उनके अभाव का सिद्ध कर रहा है उसी प्रकार प्रत्यक्ष अप्रवर्तमान होकर के प्रधान आदि के अभाव का सिद्ध करेगा इसलिए इनमें आपने कैसे जैसे यहाँ पर सामान्य तो दृष्ट अनुमान गगन कुष्म को सिद्ध नहीं कर पाता है वेद भी गगन पुष्प को सिद्ध नहीं कर सकता है ये जगह लिखते हैं वाचस्पति मिश्र नहीं सहस्रमपि श्रुतया घटम तुम इष्टे माने इतना बड़ा वाक्य बोलते भावती जिनके ये लिखे हैं वही हैं ये भी वही है यही हैं कौन उन्होंने काले का माने सहस्त्रमपि श्रुतया घट पटम इष्टे माने घट को पट नहीं बना सकती हजारों श्रुति आ जाए कहें घट या पट बन जाए तो बन जाएगा नहीं बन पाएगा उसी प्रकार यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अप्रवर्तमान जैसे गगन को समाधि में है तो कैसे होगा तो इसका मतलब दृष्टा उसकी सिद्धि कैसे होगी अत आह का एक कारण है हम्म। गगन में तो प्रत्यक्ष मतलब कि वर्तमान है अप्रवर्तमान है कहाँ जिक्र है गगन कुसुम देखे हो क्या तुम कैसे सुगंध होती है नहीं क्यों नहीं होती है हम देख के बता रहे हैं कि इसमें गगन में यहाँ पुष्प कहीं हो सकता है गगन में पुष्प नहीं हो सकता इसमें क्या है वहाँ पर गगन की में पुष्प का अभाव पुष्प है पुष्प का अभाव इसमें गगन पुष्प में प्रवर्तमान प्रत्यक्ष ने उसके अभाव को सिद्ध कर दिया ये तो कह रहा है अभाव प्रतिबोध है उसी प्रकार प्रत्यक्ष कहा नहीं जा पा रहा है अव्यक्त को नहीं देख पा रहा है तो क्या कहना चाहिए कि अव्यक्त नहीं है वहाँ तो अव्यक्त को देख ही नहीं पा रहा है यहाँ तो आकाश को तो देख ले कहाँ देख रहा है आकाश को मतलब कि इसमें कुछ है ही नहीं आकाश को कौन मतलब क्या चीज खाली जगह का नाम आकाश आँख से नहीं होता है किसको प्रत्यक्ष होता है रूपी द्रव्य कौन कौन रूपी द्रव्य द्रव्य क्या प्रत्यक्ष होता है तो भाई नहीं प्रत्यक्ष है क्या हाँ। इसे तो कह रहा नहीं प्रत्यक्ष जा पा रहा है वहाँ पर गगन कुसुम को देख लेते तो प्रवर्तमान हो जाता और कूर्म रोम को तो देख ही सकते हाँ कूर्म का रोम नहीं है हाँ, कूर्म का रोम नहीं है क्यों नहीं उसके देखे हैं हाँ नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है हाँ, तो उस लेकिन जो प्रकृति विकृति है आकाश को तो नहीं देखा नहीं पहुंची नहीं इसी तो कह रहा है माँ से आकाश में प्रत्यक्ष के पहुंच नहीं है उसके अभाव को सिद्ध कर दिया जैसे प्रत्यक्ष पूर्व में केस का नहीं सिद्ध कर पा रहा था तो क्या हाँ, सिद्ध कर उसका अभाव सिद्ध कर रहा है उसी बेला प्रत्यक्ष प्रधान में नहीं जा पा रहा तो क्या कहना चाहिए उसको तो- प्रधान का भाव सिद्ध करना चाहिए केवल प्रत्यक्ष ही नहीं सिद्ध कर अनुमान भी नहीं सिद्ध कर पा रहा है आकाश में पुष्प है पर अनुमान ये नहीं सिद्ध कर रहा है कि उसमें कूर्म में रोम है तो फिर जैसे प्रत्यक्ष ने नहीं सिद्ध कराया अनुमान ने नहीं सिद्ध कर पाया उसी प्रकार जैसे प्रत्यक्ष प्रधान प्रमाण नहीं है तो सामान्य तो दृष्टादि भी प्रमाण नहीं होने चाहिए ये उसका पूर्व पक्ष था तब उन्होंने कहा सतमी कार्य का अति दूरा शाम तो पीछे कह दिया है कि अव्यक्त का सामान्य तो दृष्टि से होगा तो यहाँ पर भी अव्यक्त जो उदाहरण है गगन कुसुम इसे तो आगे कहा उन्होंने एक दृष्टान देकर कहा तत्कथम जैसे प्रत्यक्ष से अप्रवर्तमान जैसे तदभाव को सिद्ध करता है उसी तरह जैसे उनकी सिद्धि अनु, अनुमान भी नहीं कर पाता किनकी सिद्धि गगन कुसुम की सामान्य तो दृष्ट अनुमान नहीं कर सकता है तो इनकी फिर सामान्य दृष्ट कैसे सिद्ध कर रहा है प्रधान आदि की ये कहना चाह रहा है ऐसे संधि पर आहा अत आहा किम अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनोनवस्थानात सौक्षम्यात व्यवधानात अभिभवात समानाविहाराच सामान्यता सामान्यता मतलब वही सामान्यता दृष्ट अनुमान ना ये बताया नहीं है सामान्य तो दृष्ट अनुमान शेषवत अनुमान और उससे भी सिद्ध वेद तो इन वेद भी इनको नहीं सिद्ध कर सकता ना गगन कुसुम को इसलिए अब जैसे इनको यह तीनों नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं और फिर तीन किसको सिद्ध कर रहे हैं स्वर्ग आदि को सिद्ध करने जा रहा है तो कैसे सिद्ध कर दिया इसीलिए उन्होंने कहा वो इतने नहीं क्यों नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं प्रत्यक्ष की गति क्यों नहीं उसमें प्रत्यक्ष इस कारण से नहीं जा पा रहा है क्या नहीं तो पहला कहा अति दूरात एक फिर सामीप्यात दो इंद्रिय घाता तीन मनोनमस्थानात चार सौक्षम्यात पाँच व्यवधानात छः अभिभावात सात और समाना विहाराचा आठ इनका स्वयं सबका बड़ा सुंदर तरीके से लिख रहे हैं क्या है पैदा अति क्या ऊपर से अनुपलब्धि ही अनुपलब्धि यानी अभाव मैंने इनका क्यों वस्तु दिखाई नहीं देती है उपलब्धि मानो तो साक्षात्कार कहीं आया साक्षात्कार साक्षात्कार होगा हाँ। सुखाद्य उपलब्धि साधम इंद्रियम मना उपलब्धि का अर्थ किया न्याय बोलते साक्षात्कारा और इनके अनुपलब्धि से अति दूरात बहुत दूर है इसलिए क्या नहीं हो पा रहा है अनुपलब्धि में साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है इसका मतलब वस्तुएं नहीं है है मतलब मैंने अत्यंत दूर है तो उपलब्ध नहीं हो रहा है ये तो कहने जा रहा है इसे अन्य कहने जा रहा है अनुपलब्धि बक्षमाण आगे से माने जो कहने वाले की इनकी अनुपलब्धि हो रही है इसका उससे संबंध कर देना है क्या कर देना है मन उत्तर कारिका में जो बताने वाले हैं ना क्या सौक्षम्याद अनुपलब्धिर नाभावात कार्यतस्तुपलब्धि तो यहाँ अनुपलब्धि का इस कारिका में संबंध कर लीजिए मन अति दूरात अनुपलब्धि ही उसी प्रकार कर दी सामीप्यात अनुपलब्धि ही इंद्री घातात अनुपलब्धि मनोनवस्थानात अनुपलब्धि सौक्षम्यात अनुपलब्धि व्यवधानात अनुपलब्धि अभिभावात अनुपलब्धि विहारात च अनुपलब्धि सिंहावलोकन न्याय माने सिंहावलोकन न्याय जानते हो क्या है सिंह समीप को देखता है कि दूर को देखता है जैसे कहते सिंह हमेशा दूर को देखता है ये सिंगावलोकन न्याय का मतलब होता है माने सिंगा अरण्य ब्रजन ब्रजन गच्छन सन अंतरा हिंसक भीत्या पृष्ठ भागम अवलोकयति माने जो सिंह होता है कहता चलता रहता है नीचे लेकर बड़ा सुंदर सिंहावलोकन न्याय का अर्थ लगा रहे बड़ा सुंदर क्या होता उपसंजनीय संबंध नियम अर्थ है मान उपसंजनियम लिखा ना जैसे हम लोग अनुवर्तनीयम उसी यहाँ उपसंजनीयम समझ लो यहाँ बड़ा सुंदर नया शब्द उपसंजनीय माने संबंधनीयम माने उत्तर में जो हमारा अनुपलब्धि है उस अनुपलब्धि का सिंह सिंहावलोकन न्याय न उपसंजनीयम माने संबंधनीयम आगे से पीछे हाँ इसलिए बताने जा रहे तो वहाँ अपकर्षण कहते हैं आगे से पीछे वाले को क्या कहते हैं हाँ, वो तो तुम्हारे में जहाँ वही वही कह रहा है क्या सिंहो ही अरण्य ब्रजन सन अंतरा को दूर जाता है अच्छा। हिंसक भीतर कोई मार न दे हमको तो पीछे देखने लगता है हाँ। ऐसा इन्होंने लिखा है हिंसक भीत्या बार बार उसी प्रकार ये अनुपलब्धि आगे गया है फिर पीछे देख लिया अनुपलब्धि आगे वाली कारिका में था हाँ। फिर क्या किया पीछे देख लिया तो अनुपलब्धि आ गया कितना सुंदर नया लगाते हैं इसको वहां भी लगा सिंघावलोकन न्याय नाम जैसे स्वरूपाणाम एक शेष भक्त एव कर अपकृष्यते सिंघावलोकन न्याय न उपसंजनीयम है ना वही कहना अतः हिंसक भीत्या पृष्ठ भागम अवलोकयत तथा उत्तर वाक्यस्त पदा नाम पूर्वाग के अनुसंधानम भवती दृष्टान जिसको पीछे खोज ध्यान देता है उसे उत्तर पठित वाक्यों का पीछे वाले वाक्यों में संबंध होना इसी का नाम हो गया सिंहावलोकन न्याय न उपसंजनियम का अर्थ हुआ संबंध नियम अब बताने जा रहा है मैंने संबंध कर लेना चाहिए अपकर्षणीयम कर दो ऊपर से क्या कर दो पदम अपकर्षणीयम अपकर्षण करना यथा देखो लिखने जा रहा है वही लिखना यथा उत्पतन नयती पतत्री माना जो ऊपर पतंग है ना एकदम कहने जा रहा है बड़ा सुंदर इसका अर्थ यथा उत्पतन क्या लिखा है उत्पतन बियति अलग करो बियति माने आकाशे उत्पतन किम पतत्री माने पतंग इन्होंने किया पतंग जो है गगन में उड़ पक्षी पत, पतत्री माने पक्षी हाँ। वही कह रहा है जो पतत्री जा पक्षी किमस्ती सन्नपी विद्यमान है फिर भी इतनी दूर उड़ रहा है बियत गगने उत्पतन उड्डीयमान अति दूरंगत सन अति दूरतया प्रत्यक्षेण न उपलब्धते उपलब्ध नहीं होता मान अति दूरतया जो अति दूरात लिखा है ना वह जो अब्बे वाला है इसलिए कहते अति दूर तया अत्यंत दूर होने के नाते आकाश में उड़ता हुआ भी पक्षी दिखता नहीं है इसका वाला मतलब पक्षी है ही नहीं है यह नहीं कह सकते है वही कहना अन्य कहते ना है अनुपलब्धि क्यों हो रही है अति दूर के कारण वही कहने जा रहा यथा उत्पतन बियति पतत्री अति दूर तया सन्नपी विद्यमानोपी प्रत्यक्षेण प्रमाणेन नो उपलभ्यते एक दूसरा उदाहरण दे रहा है सामीप्यात उड़ रहा है फिर भी नहीं देख पा रहा है अब सामीप वाले दृष्टान सामीप्यात इतत्रापि किम अनुवर्तनीय वही अनुपलब्धि ही अनुवर्तनीयम माने यहाँ सामीप्य के कारण अनुपलब्धि हो रही है इसे यहाँ आत्म समी देख पा रहे हो तुम आके अपना आपका देख लो कुछ कहना चाह रहे बताओ तुम तत्रापि अति क्या लिखा है अतिशामीप्य शब्द का मैंने लिखा अति दूरात लिखा है तो यहाँ अति का सामीप्य अन्य करिए अति सामीप्या उन्होंने लिखा है ना अति दूरात सामीप्या तो सामीप मतलब यहाँ भी तो हो गया समीप तो अति दूरात घटक जो अति है उसको सामीप में अनुवर्तनीय हम पीछे से ला रहे हैं देखो नहीं समझ में आया समझ अति शब्द वो सामीप्य में जोड़ दो अति सामीप्य अनुवर्तनीयम लिखा देखो पीछे से आया ना इसलिए कहा अनुवर्तनीयम हिंदी का नाम अनुवर्तनीयम माने अति ही अनुवर्तनीयम अति कौन लिंग हरि हरि हरि कौन लिंग है इसलिए अनुवर्तनीय लेकिन अति ही अनुवर्तनीय यथा जैसे लोचनस्थ अंजनम लोचन में तुम्हारा आंख में अंजन लगा तुम देख सकते हो बिना दर्पण के हाँ, हाँ तो बस हो गया तो क्या कहोगे उसमें है वो नहीं है हाँ। फिर भी दिख नहीं रहा है मतलब नहीं है गुरु जी ने लेकिन जो अति दूर रहता है उसका तो हम प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते अरे उड़ रहा है इसलिए तो पैसा को दृष्टान दिया है हाँ मतलब उड़ रहा है चला गया इसलिए हम नहीं देख सकते कदाचित आ सकता है ना समीप में इसे तो कहा कि अति दूर के कारण नहीं दिख रहा है ही नहीं ऐसी तो बात नहीं है लेकिन इसका तो प्रत्यक्ष कर सकते हैं कैसे उसको वो कदाचित आए ना आए मर नहीं वो तो ठीक तुम कैसे करोगे इसका मतलब कि बस लेकिन गुरु जी हो सकता है प्रत्यक्ष हाँ वही कहने जा रहा है अत सामीप्यात अतिथि अनुवरता लोचनस्त अंजन अति सामीप्यात न दृश्यते नहीं दिखता वो तो यहाँ पर उन्होंने स्वरूपर करके जाते हैं इसे है ना अनुरक्षण अनु में क्या है विसर्ग विसर्ग रहित है हाँ अनुरक्षण अनुर अनुरक्षण में विसर्ग नहीं अनुर में रे वही विसर्ग का तो होगा अनुर हाँ। तो अनुर कैसे अभ्य अभ्यदा से पास लोक होना चाहिए था तो, तो भैयाकरण हो अरे अनुरक्षण में पागल हाँ, अनुरक्षण में क्या है अनु लक्षण लिखना चाहिए पाणनी जी को अनुलक्षणे तब तो जहाँ संगीता होगी लोप करना नित्य लोप हो गया लोप नहीं होगा ना हाँ, क्यों अव्यय होने से लोप होगा संधि है ये फिर भी संहिता की अपेक्षा कर हाँ, भैया तुम करो कुछ भी कहो चलो हाँ? तो तुमने आनु इतने कहेगा तो नहीं होगा अर्थ परक होगा तो अव्यय संज्ञा होगी अति अनुवर्तनीय हम्म, यथा लोचनस्थम अंजनम अतिशामीप्यान न दृश्यते इंद्रिय घाता इंद्रियाणाम घाता विनाशा मान लो किसी का आंख फूट गई पहले देख रहा देख पाएगा किसी को बधिर हो गया देख सुन पाएगा इसलिए कहेगा है ही नहीं संसार इसका मतलब उसके दृष्टि में अंधा के संसार नहीं है क्या तो वही कहने जाए इंद्री घाता माने अंधत्व बधिरत्व आदि ये इंद्री घाता माने इंद्री घात कर नहीं दिखता अनुपलब्धि मनोनवस्थानात् यथा कामाद्य उपहत मना ये आदमी का दृष्टा मन कोई इतनी किसी इच्छा से पीड़ित है कि उसके सामने आदमी बेटा दिखता नहीं है कामांध व्यक्ति का मन उसको कुछ दिखता है के सामने वही कहने जा रहा है कि वही मतलब यहाँ कामाद उपहत मना क्या विग्रह करोगे मन उपकामादिना उपहत उपहतम मन यस्य पुरुष से अथो कामाद उपहत मनाह आत्मसंतोष उपदा दीर्घ असंत मान करके कैसा रूप चलेगा मन कामाद उपभत मनाह कामाद उपभत मन मन मन मनसौ ऐसा रूप चलेगा भेदा भेदसौ भेदसा उसी प्रकार अतः इस इसलिए कितना दृष्टांत ऐसा नहीं करा स्फीता लोक मध्यवर्ती एकदम एकदम भयंकर प्रकाश है उसके बीच में वस्तु रखी है उस व्यक्ति को दिख नहीं रही है मनोनवस्थाना अवस्थानात सामान्य जैसे दृष्टान दिया जाता कि आदमी कहीं बेटा कुछ काम कर रहा मन अन्य से तुम पढ़ रहे हो और मन चला गया तुम्हारा घर में क्या तो कहा कुछ नहीं समझ में कहा हो जाता कहना ये क्यों हो गया मनोन अवस्थाना सुनते हुए नहीं सुन पा रहे हो वही यहाँ उन्होंने और दृष्टान बढ़िया दिया है लेकिन गुरु जी उसकी दृष्टि में आप बोल ही नहीं रहे थे बोल तो रहे थे तुम सुन नहीं रहे आवाज जा रही थी जब यहाँ शांत तुम्हारा बधिर नहीं हो तो आवाज घुस रही है मन इस श्रोत इंद्रिय से संबद्ध नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा है वही कह रहा काम कामादोपत मना स्फुता लोक मध्यवर्तिनम इंद्री सन्निकृष्टम माने इपालोक मध्यवर्ती इंद्री सन्निकर्ष से युक्त है अर्थम न पश्यति अर्थ को देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है उसी प्रकार जैसे उसका अत्यंत मन चला गया विकार के द्वारा उसका उपरित मन दूषित हो गया मन अतः वहां पर स्फूत प्रचंड विस्तृत आलोक स्फूत करके बहुत प्रचंड एकदम आलोक प्रकाश में आलोका सूर्य आदि प्रकाश तदभ्यंतरी उसके अंदर बैठ विराजमान स्वयं है फिर भी दिख नहीं पा रहा है इसका मतलब है नहीं वस्तु है दिख नहीं रही तीसरा देने जा रहा है कौन आया बहन सौक्षम्यात मैंने अब हम लोग का हो गया पहला कौन था दूरात इस्लामी प्यात मनो नमस्तानात तीन हो गया अब आ रहा है अंद्रिघात हो गया था ना चार हो गए पांचवा आया सौक्षम्यात होना यथा इंद्री सन्निकृष्ट परमाणु परमाणु सूक्ष्म है कि कैसा है परमाणु है क्यों सूक्ष्म होने के कारण उसमें महत परिमाण नहीं है कारण क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है हाँ। महत परिमाण नहीं है तो गुरु जी है इसमें क्या प्रमाण है शास्त्र है अनुमान है तो प्रमाण है इससे मानने की वो है हाँ तभी तो माना जाएगा तभी तो कैसे तो कह रहा अनुमान की आवश्यकता है गुरु जी अनुभव तो नहीं होगा दिल तो हमें जाएगा नहीं क्या वो कहना दिखता तो फिर तो <laughs> इसी फिर इसी तो कह रहा दिख नहीं जाए दिखने के लिए नहीं कह रहा ये कह रहा है बस ये नहीं कहा देखो आंख से इससे हम मानने की है हाँ ऐसे कैसे क्योंकि यह जो कार्य होता है ना कारण के नहीं रहता है तो कारण करते चलिए करते चलिए शास्त्र ने कहा संसार की जगह कौन है परमाणु कारण है तो अनुमान करेगा कोई चलता जा रहा है सूक्ष्म से सूक्ष्म वही कहने जा रहा है सौक्षम ज्ञात यथा इंद्री सन्निकृष्टम परम इंद्री से सन्निकृष्ट परमाण होने पर भी प्रणहित मनापी न मन एकदम एकाग्र मन है फिर भी क्या नहीं हो रहा है समाहित चित्त व्यक्ति वाला भी नहीं देख पा रहा देख लेगा प्रणहित मना खूब मन एकाग्र है फिर भी सूक्ष्म वस्तु को देख सकते हो नहीं देख सकते हो वो सूक्ष्म है अति सूक्ष्म ऊपर से अति जोड़ दीजिए अति सूक्ष्म्यात क्योंकि जो सूक्ष्म निरवय है जब निरवय तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा प्रणहित मनाया सौक्षम्यात का अर्थ किया निरवय द्रव्यत्वात एक हो गया व्यवधानात व्यवधान है तो झोले के अंदर क्या है हम बता सकते हैं क्यों नहीं बता सकते व्यवधान वही लिखा है व्यवधानात यथा कुड्यात विवहितम राजदारादी न पश्यति माने दीवार के कारण राजा की स्त्री कोई देख पाएगा नहीं देख पाएगा तो है ही नहीं स्त्री क्या है पर दिख नहीं रही वही का व्यवधानाद कुड्याद वही राजदारादि न पश्यती अभिभवात बताने जा रहा है देखे सूर्य या लिखना जा रहा है यथा अभिभावत मन यथा अहनी सौरिभिर सौरिभिर भाभी ही मन सूर्य का जो प्रकाश और यहीं पर रख दो अपना मोबाइल सब प्रकाश दोनों यहाँ रख दो और यहाँ से हम लोग बैठे बैठे बता सकते तुम्हारे मोबाइल का प्रकाश है कि नहीं है यहाँ ऊपर जाना छत में रखना टेस्ट कर लेना अपने यहाँ बैठ करके यही पूरा प्रकाश जला कर मोबाइल को अधूरे दूर बैठे तो उस प्रकाश जब जग गया इसका पता चल रहा है मोबाइल जल रहा है क्या वही कहने का उस वही लिखने जा रहा उसके प्रभाव मंडल से आच्छादित तो हो गया अभिभूत मन तिरस्कृत हो गया है उसका जो सप्ताह वो तिरस्कृत आहानि वाले दिन में सौरी भीर मान सूर्य की जो प्रकाश है नक्षत्र मंडल रहते हमेशा है ये ऐसा नहीं कि रातें में दिखना चाहिए नक्षत्र मंडल हमेशा रहता आता जाता नहीं है फिर भी सूर्य के प्रकाश के कारण वो ढप क्या हो जाते हैं अभिभूत हो जाते हैं ढक जाते हैं इसका मतलब है ही नहीं है वही कहने जा रहा है यथा अहानी सौरी भीर भाभी किम अभिभूतम ग्रह नक्षत्र मंडलम न पश्यती ग्रह मान चंद्रमा इत्यादि को देख पा रहा है ग्रह चंद्रमंडल को नहीं देख पाता है समाना विहारा तो यथा तो ये माने जल नहीं जानते क्या या देना मन ये तो किसे कहते हैं यम ददात इति यदा मेघा जल बारिश कौन कराता है मेघ बोलते तो यद उससे द्वारा विमुक्ता मान उससे छोड़ा गया जो जल वो जल जाके घुस गया समुद्र में अब बिंदु को अलग करो तुम ये कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है तो यह विमुक्ता विमुक्ता अनु द बिंदु जलाशय माने तोय माने मेघेन विमुक्ता माने छोड़ा गया कौन हुआ अनुद बिंदुन जल कण अनुद बिंदु का अर्थ किया जल का जो कण है जलाशयी मन तो ये देना मन मेघ के द्वारा विमुक्त मन छोड़ा गया जो अनुद बिंदु मन जल कण अनुद बिंदु का अर्थ क्या है जल कण ये सभी शब्द का प्रयोग याद रखना चाहिए मैंने जल के कण का नाम क्या है अनुद बिंदु जलाशय न पश्यती जलाशय में पृथकतया पश्यति न पश्यति वही कहने जा रहे हैं कणान जलाशय तटागाधव जलाशय तालाब आदमी जाने पर भिन्नतया जलत्व पश्यति पृथकतया न पश्यति वही कौन सा उदाहरण समान एक जल का दूसरे जल से मिला देना तो ये जल कहाँ का गंगा जी है कि यमुना जी पता नहीं चलता इतना दृष्टान समझ लो समाना भी अरे यथा तो यदि मुक्ता बिंदुन जलाशय न पश्यति वही कहना जा रहे हैं ना नहीं लगा तुम्हारे क्या लिखा है हाँ, माने तो ये विमुक्तान बिंदुन जलाशय न हमारे छूट गया अलग अलग करिए माने तो ये विमुक्तान बहुचन का रूप है फिर बिंदु उद बिंदुन विमुक्तान अलग कर दीजिए उद माने जल होता उदक भी बनता उदक और उद दोनों है उद शब्द भी है उदक शब्द भी है उद बिंदुन जलाशय न पश्यती चकारो अनुक्त समुच्चया समारा विहाराचा आर्थ बता दिए क्या किस लिए कहे अनुक्त समुच्चयार्थम उनका भी समझ लो अनुद्भव जो अनुद्भव है अनागत अवस्थाएं हैं जो सूक्ष्म रूप में सुपादान में अवस्थित है तुम्हारा घट कहाँ बैठा है मिट्टी में देख पा रहा है अभी मिट्टी दिख रही है ये सबको ले लेना है मन उपादान से अभिभूत है वही लेकर नहीं जा रहा है तेन अनुद्भवोपि संग्रहित माने जब उद्भव नहीं हुआ घट का उसके पहले की जो अवस्था है वह अनुद्भवोपि संग्रहित तद्य था लिख रहे हैं अवस्थायाम क्षीर है ना उसमें दधि है कि नहीं है तो उपलब्ध हो रहा है नहीं, हो रहा है वही अवस्था के कारण क्षीर रूप अवस्था बैठी है जिन्हें दधि उपलब्ध है और जहाँ क्षीर रूपांतर को प्राप्त हो दधि हो जब एक क्षीराद्यवस्थायाम क्या कह दिया क्षीराद्यवस्थाया दधि दध्यादि अनुद्भवान न पश्यति वहाँ दधि का अनुद्भव है प्रकटन नहीं है अतः न पश्यति उत्तम भवती इतने कहने से मतलब ये निकला पूरी कारिका से उत्तम भवती इससे निकला क्या तो ये बताने जा रहा पूरे सार भूत को बताने जा रहे हैं एतद उत्तम भवती न प्रत्यक्ष निवृत्ति मात्रात वस्तु अभावो भवती माने यदि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं जा पाएगा तो वस्तु का अभाव ऐसी बात नहीं है जहाँ प्रत्यक्ष की गति नहीं है वहाँ भी वस्तु है उसका अभाव नहीं कह सकते हैं वही कहने जा रहा है न प्रत्यक्ष निवृत्ति मात्रात मान प्रत्यक्ष प्रमाण की निवृत्ति मात्र हो जाने से वस्तु अभाव न भवती यदि ऐसा मानोगी तो अति प्रसंग अति व्याप्ति हो जाएगी बहुत चीजों का अभाव होने लगेगा जैसे दृष्टान यथा गृहाद विनिर्गतो गृह जन्म अपश्यन अब तुम अपने घर से आ गए हो तो अधिष्ठान ठीक नहीं है मतलब कोई अपने घर से चला गया काशी पढ़ने कहीं चला गया तो घर में तो देख नहीं रहा है मतलब है ही नहीं अब तो घर में नहीं तो प्रत्यक्ष तो यही कह रहा है तो हम भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं है ना तो आप तो कह रहे नहीं दिख रहा जो वस्तु है ही नहीं है तो आंख से नहीं दिख रहा तो मतलब है ही नहीं है घर में है ही नहीं है घर में नहीं है मतलब अब है ही नहीं हो गया जैसे वहाँ पर तुमने पक्षी दूर में था कर तो नहीं है गुरु जी उसका भाव ये नहीं उसका है कि यहाँ नहीं है वर्तमान अवस्था में ऐसा उसका भाव नहीं होता तो फिर दिक्कत कोई होती आधा भाव लेकर ऐसा नहीं लिख रहे हैं प्रत्यक्ष कहा नहीं जा पा रहा है प्रधान में नहीं जा पा रहा है इसलिए उसका क्या है अभाव अनुमान कैसे सिद्ध करेगा गुरु जी उसमें थोड़ा सा और विशेषण कर दीजिए कि वर्तमान अवस्था में वर्तमान वाला अब तुम विशेषण लगा देना तो अभी हम लोग तो ये लगा रहे हैं कि प्रत्यक्ष की निवृत्ति नहीं होती है न प्रत्यक्ष निवृत्ति कुतः प्रत्यक्ष निवृत्ति मात्राद वस्तु अभाव न भवती पदार्थ की वस्तु का अभाव जैसे यदि मानोगे तो दिक्कत आ जाएगी का क्या हो जाने का अति व्याप्ति दोष आ जाएगा अति प्रसंग आ जाएगा कथम तथा ही दिखाने जाए गृहाद विनर्गतो गृजनाभावम निश्चुनोत्यव न तो नहीं दृश्यते लोके वही कहने जा रहा है गृहात विनर्गत गृहजनम अपश्यन मैंने घर से निकल गया उस व्यक्ति को ना देखता हुआ है अभाव का निश्चय कर रहा है फिर भी ये नहीं कहता वो नहीं है कहा अन्यत्र है मैंने अभाव को देखते हुए भी क्या कह रहा है अन्यत्र है उसी प्रकार प्रत्यक्ष जहाँ गति नहीं है वो अनुमान कहेगा है यदि नहीं मानोगे अति व्याप्त वही कह रहा है न तो एवं ऐसा नहीं कहता है ही नहीं अपितु योग्य प्रत्यक्ष निवृत्तिर अयम अभाव विनोती मान जो योग्य वस्तु कौन है प्रत्यक्ष युग कौन था पुत्र आदि के उसकी निवृत्ति के कारण क्या समझ रहा है कि उसका यहाँ पर अभाव है यह निश्चय करता है न तो प्रधान पुरुषादि नाम अस्ति प्रत्यक्ष योग्यता माने वहां पर प्रत्यक्ष जहाँ योग्यता होती है उसी वस्तु का प्रत्यक्ष भाव और अभाव सिद्ध करता है और जिस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा उस वस्तु के अभाव को भी प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं कर पाएगा जिन नैयाय के लक्षण क्या किया अभाव लक्षण क्या प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान अभाव से लक्षणम और यहाँ क्या अभाव मतलब क्या है वो पंक्ति परिणाम विशेष बस यही मान परिणाम विशेष कैवल्य लक्षण यही है मान जो उस पृथ्वी का एक परिमाण विशेष है जिसका नाम है कैवल्य लक्षण परिमाण क्योंकि इनके यहाँ चलम गुण वृत्तम वो हमेशा बदलता ही रहता चेतना जितना है ये भूतल बदल रहा है हम लोग पता नहीं है जब घट आया तो दूसरा भूतल था और घट गया नहीं कि दूसरा भूतल आ गया वो क्या कहलाएगा कैबल लक्षण परिणाम कहलाएगा वही क्या है घटाभाव है वही कहने जाने जा इति योग्य निवृत्ति ही अतः यहाँ घट का घट को प्रत्यक्ष करता है इसलिए घटाभाव को प्रत्यक्ष कर सकता है और न प्रधान को प्रत्यक्ष करता है न प्रधान के अभाव को भी निषिद्ध कर पाएगा क्योंकि प्रति अभाव का लक्षण क्या है प्रतियोगी ज्ञानाधीन विषयत्व अभाव से लक्षण वही कहने जा रहा न कहना करना अपितु तो योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति रपि योग जब प्रत्यक्ष की निवृत्ति होगी तभी अभाव होती उसी अभाव को प्रत्यक्ष सिद्ध करता जो योग्य पदार्थ है प्रत्यक्ष युग जो पदार्थ हैं उनकी अभाव को प्रत्यक्ष सिद्ध करेगा प्रधान के अभाव को प्रत्यक्ष नहीं सिद्ध कर सकता न च प्रधान पुरुषादी नाम अभाव विनिश्चिनोती अन्य कर दिए मैंने प्रधान पुरुषादियों के अभाव का निर्णय नहीं कर सकता कौन क्यों नहीं कर सकता क्योंकि प्रधान पुरुषादी नाम न प्रत्यक्ष योग्यता ये प्रधान पुरुष प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है जब प्रत्यक्ष के योग्य नहीं तो उसका अभाव ही प्रत्यक्ष नहीं होगा जिस जिस अभाव के प्रतियोगी का प्रत्यक्ष होता है उसी के अभाव का प्रत्यक्ष होता है यदि घट का प्रत्यक्ष होगा तो घटा भाव का यहाँ प्रत्यक्ष होगा अभाव प्रति प्रतियोगी ज्ञान कारणम चलिए न तो तन निवृत्ति मात्रा केवल घट नहीं मतलब आकाश नहीं दिख रहा है इसने मात्र से उसका अभाव हो जाए ऐसी बात तो नहीं है वही न तन निवृत्ति मात्रा तद अभाव निश्चयो युक्ता इति प्रामाणिका नाम प्रामाणिक लोग कहते हैं किसी वस्तु की नहीं दिख रही है इतने मात्र से नहीं है यह नहीं कह सकते हैं इति प्रामाणिका नाम व्यवहार प्रमाण मन लिख दिया प्रमाण ही व्यवहार माणा नाम नयुक्तम जो प्रमाण के द्वारा व्यवहार करते हैं उनका यह नियम है